वे क्षत्रिय मने ऐश्वर्य ऐसा जो श्री ये जो धन है वो हमको चाहिए तात्म श्रीश्च श्रीयश्च प्रज्ञान श्री से मने श्रीयश्च यदि श्री से करके मुन में उसको श्रेय बहुवचन बना लेना है प्रज्ञान स्थिति निमित्ताम विदेही आपकी स्थिति के योग जितनी आवश्यक होती है तो प्रज्ञा चाहिए इस शरीर के अंदर प्राण की जो है बने रहने के लिए जितनी आवश्यक उतनी प्रज्ञा तो दे दे अब कभी से प्रज्ञा है उस समय फेल हो जाता है हम मरने के समय आ जाते हैं ना दवा खाएगा नहीं चाहे जितना भी कोशिश कर लो घर खा लिया है बोल दे सर्वी जब दबा देते तो दवाई क्या करोगे आप ढूंढो तो नहीं मिलेगा आप सोचेंगे इसने दवाई खा लिया उसके मरने का नंबर आ चुका ना ऐसे दिमाग उल्टा काम करता है प्रज्ञा नहीं चलता ऐसे शिव चैतन्य था मर गया मंगलाश्रम में था हुआ ऐसी प्रज्ञा से प्रार्थना की जा रही कम से कम प्राण की स्थिति के योग्य प्रज्ञा में बने रहने देना है जैसे कहते हैं तस्थिति निमित्ता प्रज्ञा विधेयी विधत्स्वता हम लोगों का विधान करना इतम सर्वात्मतया वाघारी प्राण ही स्तुत्या गमितम गमित महिमा इस प्रकार से समाप्त स्तुति अपने भाषिका पूरी स्तुति को इकट्ठा करके बोल रहे हैं सर्वात्मतया वाघाज प्राणी वाघाई प्राणों के द्वारा जो है सर्वात्म भाव से स्तुति करने के कारण गमित महिमा प्राण प्राण अब जो अपनी महिमा उसे ज्ञात हो गया और लोगों को विज्ञान हो गया तो उन्होंने स्तुति करी है तो प्राण प्रजापति अत्ता अवगतम इस निश्चय प्राण ही प्रजापति है वही अत्ता है सभी में वही व्याप्त अतृत्व भाव को प्राप्त किया हुआ है वही स्वस्थ प्रजाओं के जन्म का कारण है ये सिद्ध हो गया अब अगला प्रश्न उठता है ठीक है प्राण ही एकमात्र देवता है देश में रहता है और उसको धारण ये तो पूछा गया था कौन इसको धारण किया हुआ है कौन है वजह इसको प्रकाशन कर रहा है ये प्रश्न था उसका जवाब दे दिया प्राण ही इसमें रहता है वही इसका प्रकाशन करता है वही इसका धारण भी करता है अब का तो प्राण आया कहा से कैसे घुस गया कैसे आ गया इसके भीतर ये बताओ हतहीनं कौशलिश्चाश्वलाय पृछ भगवन कुत एष प्राणोच्चायते कथम अस्मिन् शरीर आत्मा प्रयुज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यम अभिधत्ते कथमध्यात्तमिति तदहयं कौशलश्चाश्वलायन पृछ अश्वल का पर्वोता कौशल गोत्र उत्पन्न कौशल्य या कौशल का बेटा कौशल्य ने महर्षि इसमें प्रहलाद महर्षि जी से पूछा हे भगवान हे पूज्य बताइए कुछ ये सब प्राण हो जाए तो यह प्राण किस कारण विशेष से उत्पन्न हुआ पहला प्रश्न है प्राण भी किस उत्पन्न हुए फिर कदम आया थी वह किस व्यापार विशेष से शरीर के भीतर आ गया अस्मिन शरीर कथम मायाति आत्मा प्रविज्य कथम प्रतिष्ठत है वो अपने आप को विभक्त करके किस प्रकार शरीर में स्थित रहता है कथम प्रातिष्ठत हो गया के उत्क्रमते और शरीर से उत्क्रमण क्यों करता है क्या कारण क्यों जाता है यहां से बाहर और कथम बाह्यम कथम अध्यात्म और इस प्राण को क्यों लोग जो है ना बाह्य और आभ्यंतर शरीर को धारण करने वाला ऐसा कहते हैं अतहीनम कौशल प्राण ही एवं प्राण निर्धारित तत्व उपलब्ध महिमा यद्यपि प्राण जो है प्राण ही अन्य प्राण ही मैं वागा इंद्रिय ही वाघारी निर्धारित तत्व ही उनके द्वारा प्राणों प्राण का जो उपलब्ध महिमा वाला है वह निश्चय हो चुका है सहत कार्यक्रम लेकिन शंका इसलिए हो रही है क्योंकि आपका प्राण भी संहत वस्तु है वह भी कार्य है अतः उसका भी कारण हमें खोजना होगा लेकिन जो भी कार्य होगा उसे कारण तो अवश्य होगा और ये भी सहदत्वा स्यान कार्यक्रम यह निश्चित रूप से स्वीकारत रहेगा अतः पूछामी इसे मैं पूछता हूँ अब वह किस से उत्पन्न होगा भगवान कुता कसमान कारण एश यथावत प्राणो जाय थे किस कारण से यह जो पूर्व निश्चय कर दिया देता और स्तुति विशेष से विशिष्ट वह जो गुणों से विशिष्ट वह प्राण है वह किस से उत्पन्न होगा ज्यादस्य चलो पैदा ही हुआ सही लेकिन खत्म मैंने है ना आया थी अश्विन शरीर अरे शरीर के भीतर इसे कौन सा वृत्ति विशेष को लेकर प्रवेश करेगा क्या आधार का अंदर घुसने का रास्ता इसका कौन सी गाड़ी चढ़ के घुस गया इसके अंदर जैसे ना किस गाड़ी से आई पूछ लेगी नहीं बड़ा है आया वही कहते कौन स्पेस आया वैसे ये कौन सी गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गया क्या रूट था इसका कैसे आ गया ये किन निमित्त से शरीर ग्रहण कई बोल मैंने क्या निमित्त था कि इसने शरीर को ग्रहण कर लिया प्रविष्ट शरीर आत्मा प्रयुज्य प्रविभागम करता कदम केन प्रकार प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रवेश करने के बाद चुपचाप नहीं रहा है अपने आप को पांच भाव विभक्त कर डाला ऐसे क्यों किया कहा तरह प्रविभज्य प्रविभाग कृत्ता प्रविभाग करके किन प्रकार किस प्रकार से इसके अंदर प्रतिष्ठित हो गया केन वृत्ति विशेष अस्मा शरीर उत्क्रमत उत्क्रामती और ऐसा कौन सा वृत्ति विशेष है निमित्त है जिससे जो कारण से यह इस शरीर से बाहर निकल के चला जाता है उत्क्रमण करता है कहते कि देखो कथम अंतिम प्रश्न पांच प्रश्न इसके एक तीसरे प्रश्न के अंदर पांच प्रश्न पहला किस काम से उत्पन्न हुआ दूसरा किस वृत्त विशेष को लेकर प्रवेश किया प्रवेश इसको विभाग करके कैसे रहता है और किस वृत्त विशेष को लेकर यहाँ से निकलता है अंतिम पांचवा है उसके अंदर कथम बाह्यम मैंने अधिभूतम अधिदेवरंच अभिदत्ते धारयती कथम या इसको दो टुकड़ा करके पांच और छह हो जाएगा वो अधिभूत और दैवत रूप को कैसे प्राप्त किया एक और अध्यात्म रूप को वो कैसे प्राप्त किया है अधिभूत अध्यात और अधिदैव तीनों को लेकर एवं भ्रष्ट तस्में सुहोवाच तस्में सुहोवाच अति प्रश्नान पृछसी ब्रह्मिष्ठोसी तस्माभ्यम ब्रवीमी कहते वाह धन्य अन्य सब छेड़ाओं से तुम महान छेड़ा है क्योंकि तुमने जो प्रश्न पूछा है राम बहुत उत्कृष्ट प्रश्न पूछा है अत्यंत कठिन प्रश्न बिना ब्रह्म ज्ञान को बताए यहां पर काम चले गए प्राण कहां से आए काम भी रहे प्राण वायु आप तो संवर्ग संवर्ग विद्या वायुर्भाव संवर्ग प्राणो भाव संवर्ग अध्या आदि आदि भौतिक में जो है वायु है और आध्यात्मिक में प्राण प्राणो भाव संवर्ग वायु राव संवर्ग चांद परिषद में संवर्ग दिया आता है तीरत्व की कहानी में अगर भाई कहां से आया आप चाहे तो आगे बढ़ोगे तो कहेंगे भाई आकाश आकाश कहां से आया खाना पड़े ब्रह्म लाने पर वायु का अर्थी ब्रह्म कर दिया है लटका तुम अब यहाँ प्राण का बंद करना पड़ेगा प्राणस्त लिंगा इसलिए कहते कि देखो तुमने तो प्राणादि की उत्पत्ति विषय का अत्यंत कठिन प्रश्न को पूछा है अति प्रश्न मैंने अति कठिन प्रश्न आने पृछसी भ्रमिष्टोसी इसलिए फिर भी तू तो बड़ा भ्रम इतना मानना पड़ेगा अतः तस्मात एवं रविमी से मैं प्रसन्न होकर अब तेरे लिए इन सकल छह प्रश्न जो तुमने डाला है इनका जवाब दूंगा अस्मात एवं रविमी पाशवाद एवं दृष्ट तस्मय कौशल्याय आश्वलायनाय स पिपलाद आचार्य उवाच प्राण एवत्ता तावत विषम प्रश्न प्रश्न प्रस्तार प्राण ही जना अत्यंत विज्ञ है इसलिए विषम प्रश्न के योग्य ही कस्यापि जन्मादि हर हाँ, तो प्राण की कहानी कठिन है और उसकी जन्मादि की कहानी तुमने पूछ पड़ा तो और कठिन काम कर दिया प्राण को समझना ही कठिन है कैसा जी रहा है कैसा चल रहा है गाड़ी समझ में नहीं आता है हम खाते रोटी दाल सब्जी और इससे प्राण कैसे मजबूत होते जाता है इन्हीं कथा कहानी समझ में आती है और वाक्य में इस अन्नमय शरीर का कोई संबंध भी नहीं और फिर भी अन्न से पुष्ट भी होता हुआ लग रहा है इसे प्राण की स्वरूप चमत्कारी चीज है इसी को समझना कठिन है और ऐसे भी योगी उनकी कहानियां देखा अन्न के बिना भी उनके प्राण पुष्ट है बताओ अन्न के बिना ही चीरे हैं है तो विचित्र है नहीं इस प्राण के अंदर कहीं तो देख रहे हैं अन्न के बिना देखते तो कहीं पा रहा है कहीं तो देखते हैं अन्न के बिना भी मस्ती में रह रहा है और कहीं तो ये करो चाहे वो करो कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता जब जन्म पाना है तो चली पड़ जाता सीधे किसी का नहीं सुनता इसलिए ये बल गजब की चीज है यही समझना कठिन है और तुमने तो उल्टा उसके जन्म के बारे में पूछ पड़ा इसका माँ बाप कौन कहा जाएगी इसलिए जन्मारी तुम पिछसिया तो अति प्रश्न इसे तुमने अति कठिन प्रश्न को पूछ पड़ा है ब्रह्मिष्ट थी अतिशयन तुम ब्रह्मविद ब्रह्मविदा ब्रह्मविद इसलिए तुम निश्चित रूप से अतिशय रूपेण प्रवृत्ता हो अतः तुष्टो हम इसलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ तस्मात तुभ्यम में सुन जो पूछा है तुमने उसके जवाबों को मैं कहूँगा जायते यथैषा पुरुषे छाया एक आततम मनोकृतेन आयात्यस्मिन् शरीरे आत्मन एष प्राणो जायते कद आत्मन एष प्राणो जायते यह जो प्राण है यह आत्मा से ही उत्पन्न बाकी बीच का जो बात नहीं बोले अन्य श्रुतियों से मिलाना पड़ता है प्रजा उसमें ब्रह्म सूत्र निर्णय देंगे कैसे हो जाएगा प्राण तो वायु का कार्य है ना तो कार्य कारण अभेद कर दो वायु के साथ फिर वायु कहा से आकाश से आकाश जो है प्रक्रिया हुई रहेगी पहली उन्हें सीधा ही कह दिया आत्मना येष प्राण हो जाते प्राण हो यह जो प्राण है आत्मा से उत्पन्न होता है जैसे यथा ऐसा छाया पुरुष है जिस प्रकार से वो लोक में आप अनुभव करके देखते हैं मनुष्य शरीर के से जो छाया उत्पन्न हुआ करती है और कहा है वो छाया आप नहीं है अलग तो है नहीं लेकिन अपने से उत्पन्न हुआ जैसे अपने से अलग होता हुआ जैसे दिखाई देता है इस लोक में पुरुष से उत्पन्न हुआ जैसे अनुभव होता है इसको छाया होता है ठीक उसी प्रकार से मानव आत्मा से प्राण उत्पन्न हुआ जैसे है एकदम वैसे ही इस आत्मा में ही प्राण क्या है व्याप्त इसलिए आत्मा में प्राण को व्याप्त मानना पड़ेगा इस प्रकार से जो है उसमें छाया निकालो जो है छाया इस पुरुष में ही रहता है पुरुष से अलग सा उत्पन्न हुआ जैसे लगता है उसी प्रकार से जो है ये जो आत्मा से प्राण उत्पन्न हुआ सा है फिर भी यह प्राण आत्मा में ही है एक आत्मनी एक प्राण आततम मन व्याप्तम प्रवेश कैसे किया है पूछा था ना तो कहते मनोकृत आयाति अस्मिन शरीर मनोजन्य संकल्प आदि के द्वारा यह शरीर में आ जाता है मन मन जन संकल्प के द्वारा आता है मन ने संकल्प किया तो उसमें प्रवेश कर गया आत्मन भाष्यकार आत्मन परस्मात पुरुषाद अक्षरात सत्यात आत्मा क्या है कहते हैं वह पर पुरुष है परम परम पुरुष है वो इसलिए परस्वनाथ पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ अक्षरा तो अक्षर है उससे सत्या तो सत्य रूप है वो ऐसा उक्त प्राण जयते ये जो पूर्वोक्त प्राण है वो उसी से उत्पन्न हुआ खत्म इत्यादि दृष्टान्त ये उत्पत्ति किस प्रकार की है उसके लिए बहुत सुंदर दृष्टान्त देख समझा रहे हैं तथा जिस प्रकार जो है लोपे ऐसा पुरुषे आदि लक्षण निमित्त छाया नैमित्त की जायते जिस प्रकार श्लोक में आप देख रहे हो पुरुष कौन है हाथ पैर आदि स्वरूप वाला जो निमित्त कारण में ऐसा छाया निमित्त की हो जाते यह जो छाया है निमित्त की उत्पन्न हुआ करती है तद्वत एक ब्रह्मणी ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्म में एक ताराक्यम छाया स्थानीय ये जो तारा नाम का छाया आपन वस्तु अनृत रूप इसलिए वो अनृत है क्या है असली है नहीं अनृत रूपम दत्तम सत्य पुरुष आत्म सत्य पुरुष होता ब्रह्म तत्व में आदम समर्पितम व्याप्त होकर समर्पित है इति था छाया इव देह जैसे जो है छाया इव देह यहाँ विश्राम बना चाहिए छाया इव देह जैसे देह में छाया व्याप्त है और नहीं भी है तो मिथ्या वस्तु है मनोकृत मन संकल्प इच्छा निष्पन्न कर्म निमित्त वक्षति ही कि मना संकल्प मन से उत्पन्न जो संकल्प संकल्प किया इच्छा करा आदि कार्य कामना की उसके अनुसार कर्म किया और कृतो स्मर कृतज्ञ स्मर कहा हुआ है ना कृतो स्मर कृतज्ञ स्मर अमर तो जिसने वो यही प्रार्थना किया ही है अरे भाई हमारे द्वारा किया हुआ जो कुछ मन का संकल्प है और तो संकल्प जन जो कुछ उचित कर्म वाचन अनुचित कर्म किया उसका स्मरण करो तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते मनोकृत मन संकल्प इच्छा आदि निष्पन्न कर्म निमित्त नित्यती तारश कर्म रूप निमित्त की वजह से आगे कहेंगे भी पुण्य न वही पुण्यम पुण्य कर्म के द्वारा वो पुण्य लोगों को प्राप्त करता है ऐसे इसी मुंडक में आगे में कहने वाले हैं इत्यादि तदेव सक्त सह कर्मणा पुरा क्योंकि मन ही होता है जो कर्म से सख्त है संबद्ध जुड़ा हुआ इसलिए का मन कारण बंद मोक्ष यो हो ऐसे श्रुतियों में लिखा है आयाति मन आगछति अस्मिन शरीर मन का संकल्प इच्छा आदि के कारण से ही इस शरीर में प्रवेश हुई के समान प्रवेश है मन का संकल्प ही प्रवेश है आत्मा कोई अतिरिक्त प्रवेश नहीं हो सकता सारे दृष्टान देते हैं जो समझाने के लिए उसने पूछा था ना प्राण अपने आप को पंचका विभक्त होकर कैसे इसमें रह गया कैसे हो गया वो उसको समझा रहे दृष्टान से यथा सम्राट एवं अधिकृतान विनियुक्त एतान ग्रामान एतान ग्रामान अवितिष्ठस्व इति एवं वैश प्राण विदुरान प्राणान पृथक पृथक सन्निधत्ते जिस प्रकार कोई राजा है वो क्या करता है अपने अधिकारी पुरुष लोग जो योग्य व्यक्ति लोग हैं उनको अधिकृत करके कहता है अरे भाई आप लोग इतने गांव का मालिक हो इसको आप संभालिए आप इतने क्षेत्र को देखिए जैसे आज की भाषा में डीएम नहीं होते कलेक्टर साहब डीएम तो क्या है कि जिला हमको सौंप दिया गया तो उसका व्यवस्था देखना वहाँ का जो कुछ भी अनुशासन को संबंध जो है देखना है शांति बहाल करना ये सब उनका कर्तव्य वहाँ के विकास के कार्यक्रमों को भी ध्यान रखना सब काम धंधा उनके सुपुर्द कर दिया जाता है उसी में मुख्य प्राण ने क्या किया ये महाराजा के समान और उसने छोटे मोटे पांच अधिकारियों को बना दिया प्राण अपान उदान समान व्यान नाम की और इन लोगों को अलग अलग स्थानों में स्थापना कर दी और कहा आपका ये काम है भाई वो काम वो कर रहे हैं जैसे कभी कभी अधिकारी यहाँ भ्रष्ट ही मिला करते हैं तो उसी प्रकार से कभी कभी ये भी अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हमारे अंदर में जो घूम रहे जो आसान बिगड़ गया तो बवासीर हो गया तो कोई बीमार हुई हो गई नहीं समान वायु बिगड़ जाता है तो खाया पिया ठीक से हजम नहीं हो रहा है हजम होता है तो पूरा शरीर में उसका व्याप्ति नहीं होती है खाता नहीं है वो समुन्न नहीं करता ना ढंग से पहुंचाता नहीं माल पानी को उदाहरण बिगड़ गया तो श्वास की बीमारियां हो जाते हैं और प्राणी बिगड़ गया तो कहने के शरीर पूरा कमजोर हो जाता है ज्ञान बिगड़ गया तो आप जानते ही लकवा वगैरह हो जाते हैं जब ये भी जैसे भाई आप लोक में देख रहे हैं उसी प्रकार ये भी होने के कारण से दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है उन्होंने जिस प्रकार सम्राट जो है अधिकृत पुरुषों को विनियुक्त विनियोग करता है एतान ग्रामान एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व आप इतने ग्रामों पर अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए यह अपना संभालिएगा एवं में इसी प्रकार से ऐसे प्राण प्राण रूपी महाराजा ने क्या किया चित्रान प्राणा अन्य पंच प्राणों को उप प्राणों को पृथक पृथक स्थापना कर दी और उनका अधिकार क्षेत्र को भी निश्चय कर दिया और ये क्या करें क्या नहीं करेंगे सब कुछ तय कर दिया गया भाष्यकार यथा ये न प्रकार लोके राजा सम्राट एवं ग्रामर विश्व कृतान इस श्लोक में जो राजा सम्राट हुआ करता है वह जिस प्रकार से ग्रामादियों में अधिकृत पुरुषों को विनियोग कर देता है कथम एदान ग्रामान एदान ग्रामन अधिष्ट स्वैति आप इतने ग्रामों को आप इतने ग्रामों को अधिष्ठित होकर के उसके मालिक बनकर कार्य करें एवं में दृष्टान्त इस प्रकार के दृष्टान्त ठीक उसी प्रकार से मुख्य प्राण इतरा प्राणा चक्षरादीन आत्मभेदाश्च पृथक पृथक यथास्थान सन्निधत्ते विनियमित इसी प्रकार मुख्य प्राण भी क्या करता है इतर प्राणों को चक्षुरादियों को अभेदान जो कि राजा के अपन ने मुख्य प्राण वो जो है कौन अन्य प्राणों को पंच प्राण जैसे आपने देखा प्राणापान व्यान समान व्यान उसी प्रकार से चक्षुरादि इंद्रिया और वो प्राण है इंद्रिय इन सबको प्राण शब्द ही कह दिया चक्षुरादी आत्मभेदांश पृथक पृथक यथास्थान समझते पृथक पृथक जो है भेद पूर्वक यथास्थान जिसका जो गोलक है जिसका जो स्थान है जिसका जो कार्य है उन सारी चीजों को संभाल करके स्थापित कर दिया अग्निउंत विभाग कैसा है वो अभी थोड़ा समझाओ लिस्ट बन जाता है ना कौन अधिकारी कहाँ रहेगा पूछताछ करने के लिए जरूरी भी है इस लिस्ट बना के रखना पड़ता है उसी प्रकार यहाँ भी बताओ कौन कहा बैठा हुआ है पायुपस्ते अपानम चक्षुश्रोदे मुखनाशिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्य तो समान एश ये तद्दुदम मन्नम समन्वयति नयति तस्मादेता सप्तार्चिशो भवंती यह प्राण कहा है गुदार मूत्रेन्द्रिय में अपान रूप से रह रहा है और चक्षु श्रोत्र मुखनाशिका इनमें तो खुद प्राण स्वयं ही है प्राण स्वयं प्राप्त गुदार मूत्र स्थान में अपान वायु रूप से मलमूत्र को त्यागने वाला होकर के यह महाप्राण जो है वो क्या है अपान नाम से रहने लगा और चक्षु श्रोत्र इन गोलकों में और साथ साथ मुख और नासिका में यह प्राण स्वयं ही प्राण नाम से ही विभक्त प्राण नाम से महाप्राण और इसमें प्राण अलग शब्द कर देंगे हम महाप्राण कह देंगे और ये प्राण मात्र और मध्य तो समान और बीच में कौन है समान बन के बैठ गया वो महाप्राण वहां बैठ के क्या कर रहा है वो ये तद उदम मंदम यह जो महाप्राण ही समान रूप धारण करके यह जो कुछ भी खाया पिया हुआ सब कुछ अनजल है उन सारे चीजों को समय नहीं होती पूरे शरीर में समत्र स्वभाव से ले जाता है तस्मा देता सप्तार्थिश भवंती उसी जटराग्नि से शिरोवर्ती सात ज्वालाएं मान उत्पन्न होती हैं यदि जटराग्नि गड़बड़ा जाए ऊपर सिर में जो सप्त शून्य सात जलवाओं के समान ज्वालाएं हैं ये सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे तो खाना पीना कम हो गया गड़बड़ हो गया तो सभी आवश्यक विटामिन बनेंगे नहीं ना फिर आज की भाषा में क्या है विटामिन पौष्टिक तत्व ये बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं तो सिर्फ तो ऊपर आएगा नहीं ना छांदे परिषद आएगा जो खाया हुआ चीज है तीन भाग बढ़ता है एक स्थूल है वो निकल जाता है दूसरा सूक्ष्म वो जो है विभिन्न चीजें बन जाते मांस खून पान सब बन जाएगा और एक सूक्ष्मता में वो क्या करेगा अनुरूप वो इंद्रिया रूप धर्म इंद्रियों को पुष्टिकरण देते रहेगा मन को बनाएगा इंद्रियों को बनाया जिसे जैसा खा गया वैसा बने मन कहावत हो गया केवल मन की बात है सारी इंद्रियों की बात है सभी इंद्रियों में चीज पहुंचते हैं इसलिए सुखदेव महाराज भागवत में कहते हैं जिते रसम जितम सर्व यदि आपने रसनेन्द्रिय को जीत लिया तो समझ लो आप सब कुछ जीत क्योंकि यही तो खाद डाल रहा है ना इन इंद्रियों को आवश्यक जो खाद है माल पानी कौन डाल रही इसी के द्वारा जा रहा है आप जैसे छटपटा डालोगे सारी इंद्रिया भी छटपटा ही रहेंगे नहीं हाँ तमोगुणी पदार्थों को डालेंगे इंद्रिया भी तमोगुणी हो जाएंगे सात्विक पदार्थों को डालेंगे तो सात्विक बन जाएगा इसलिए जैसा आप खाएंगे पिएंगे उसी के अनुसार सारी इंद्रियां काम करते हैं और जैसी इंद्रियों की जो स्थिति है उसके अंदर वासनाएं भी जगती हमारा जिसके इंद्रिय ढीले ही है पूरा का पूरा और उसको क्या करेगा क्या सोच सकता क्या समझ सकता है मन में किंचित कामने आ भी जाए तो तुरंत अरे हमसे तो होना ही नहीं हम तो बेकार है दिमाग में जैसे आ जाएगा वह कामना भी वहीं ठप हो जाएगी इसलिए जितनी सात्विकता रहेगी उतना आपकी वृत्तियां सात्विक होती जाएंगी और जितना वृत्तियां सात्विक इंद्रिया सात्विक होंगे तो वासनाएं भी वही सात्विक वासनाएं जगेंगे असात्विक वासनाएं जगेंगे ही नहीं ये विशेषता है इसलिए कहा जिते रसम जितम सर्व देखते हमारी वासनाओं की ऐसी है क्या करे नहीं वासनाएं वैसी नहीं तुम्हारा खान पीन गड़बड़ है इसलिए वो वासना भी उसी तरह के जग रहे हैं खान पीन सुधारेंगे तो अपने आप सब सुधर जाए तो गोबर सही डालो तो सही ढंग से फसल कटेगी ना फिर गड़बड़ गोबर डाल दोगे ज्यादा डाल दोगे खराब हो जाएगा फसल उसी प्रकार यहाँ पर भी इसलिए ध्यान पर रखकर कहते हैं तस्माद उसी जो है खाए भी अन्न से जो समान वायु ने चारों तरफ फैलाया है उसी वजह से ये सप्तार्चिशो ये जो है जटराग्नि से शिरोवर्ती ये सात ज्वालाएं जो है ना उत्पन्न होती हैं देखो भाष्यकार कहेंगे पायुपस्थ है तत्र है पायुष्य उपस्थित तस्मिन दो इंद्रिया ये कर्मेंद्र पायु और अपानम आत्मवेदम मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुरती समझते यह जो प्राण है आप अपानम अपान रूप से आत्मवेदम कृतवा अपने ही महाप्राण ने अपने स्वरूप में ये भाग कर दिया जिसका नाम उसने अपान रख दी स्थान निश्चय कर दिया पाई और बस और वह कर क्या रहा है मूत्र पुरुषादि अपने कुरन मूत्र पुरुषादियों को विसर्जन करता हुआ तिष्ठती सन्निधत्ते स्थापित निरंतर स्थापित सम्यक प्रकार मित्राम धत्ते धारित तथा चक्षुश्रोत इसी प्रकार चक्षुष श्रोत्र चक्षुश्रोतन तस्वीन चक्षुश्रोत्र मुखनासवाभ्याम च मुखं चन्नाशिका नासिका चाभ्याम मुखनासिकाभ्याम मुख और नासिका से इन चार स्थानों के द्वारा मुख करने से मुंह हो गया ना नासिका से दो हो गया छेद वेग ले लो और ये दो हो गए कान और आम दो दो चार है दो ही कंड कर है तो दो दो चार ये हो गया ठीक है पांच छह सात हुए कि नहीं हुए सातों के साथ इन सभी में प्राण में कुदरा रहा है वो निर्गछन गमन करता हुआ प्राण स्वयं सम्राट स्थानीय प्रतिष्ठित प्रतिष्ठती प्राण जो स्वयं सम्राट स्थानीय है महाप्राण ही प्राण रूपेण न हो गया मध्य तो प्राणापान स्थान यो नाभ्याम मध्य तो मध्य मैंने कहा प्राण और अपान पहले इसरा अपान बदले जो नीचे प्राण बदले जो ऊपर है प्राण और अपान का बीच में जो है समान घूम रहा है कैसे हो स्थान और नाभ्याम हाँ, कर दिया समानो अशितम पीत समम नहीं समान क्योंकि समान इसका नाम ही क्यों रखा गया क्योंकि अशित और पीत खाए हुए और पिए हुए चीजों को सम्यक प्रकार से चारों तरफ नयन करता है पूरा शरीर में फैलाता है उसके रस को इस रस का नाम समान है पहले वाला अपान इसलिए था जो अपनयति अपान नीचे ले जाता है और प्रणीति जन बलन बल बल अर्थ में ना बल प्रावण यो हवा बल प्रदान करता है और जो है आपको जब कारण में क्रिया भी कर देता है इसलिए उसका नाम ही प्राण रख लिया एश ही भुक्तम पीतम छ क्योंकि ऐसा यह जो प्राण है वो क्या कर रहा है ये यदे तद्धुतम नहीं ये से समान ना ये समान हाँ। यह समान वो भी जो महाप्राण क्या कर रहा है यह जो हुदम मैने भुक्तम पीतम जो खाए पिए वस्तुओं को आत्मा अग्नौ प्रक्षिप्तम अग्नि में प्रक्षित येष आत्मा ये जो प्राण रूपी आत्मा समान रूप से रह करके अग्नि में प्रक्षिप्त सब कुछ खाए पिए अन्नम समम नयती तस्मात अशित पीत इंधना अग्नि औदरिया इसलिए खाया पिया हुआ रूपी जो ईंधन इस ईंधन से निकला वो जाट रागनी उस जाट रागनी का दीप्त होने की से उसकी ज्वाला ऊपर की ओर आई ऊपर ओर कैसे आ रही है हृदय देशम प्राप्त एक एता संख्या का अर्चिशो दीप्त्यो निर्गछन्त्यो भवंती ऊपर की ओर आए हुए होकर एक आसत संख्या का सात संख्या वाले अरुचि के समान अरुचि दीप्ति है प्रकाश है निर्गछन्त्या निर्गमन करती है शीर्षण प्राण द्वारा दर्शन श्रवण आदि लक्षण रूप आदि विषय प्रकाश प्राय क्योंकि प्राण द्वारा ही शीर्ष में विभक्त कर विद्यमान दर्शन श्रवण या श्वसन इत्यादि जो क्रियाएं हैं सम्यक प्रकार से इनको प्रकाशन कर रहे हैं लक्षण रूप आदि विषय प्रकाशा जो कि रूप शब्द इत्यादि विषयों का प्रकाशन भी करते रहते ही प्राय हो अच्छा तो ये आत्मा कहा रहता है लेकिन वो आत्मा कहा रहता है तो तुमके प्रश्न में ये अभी बात आया हुआ था कि जब प्रश्न उसने जब पूछा था उसने कथम प्रातिष्ठते याद है आत्मा विजय कथम प्राष्ट हो गया के न उत्क्रमते कथम भाई में विजते कथम अध्यात्म थी उसी को लेकर जवाब दे रहे हैं हृदय आत्मा अत्रेक शतम तासाम शतम शतम एक एक नारी सहस्राणी भवंती हृदय आत्मा यह आत्मा कहा है हृदय आकाश में विद्यमान है हृदय से हृदय आकाश हृदय आकाश में विद्यमान है यह आत्मा यह जीवात्मा हृदयाकाश में स्थित है जो कि संकल्प के माध्यम से मन कृत संकल्प इच्छादि के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया था और इसी जीवात्मा के कारण से ही यह प्राण भी जीवात्मा रूपी निमित कारण से प्राण की उत्पत्ति हुई है और वह प्राण पांचदा विभक्त होकर विभिन्न स्थानों में विराजमान हो गया है ऐसा वह जीवात्मा वह यह जो जीवात्मा है वो हृदयाकाश में विद्यमान रहता है अत्र क्योंकि इस हृदय हृदय में ही क्या हो रहा है एक शतम नाड़ी नाम एक सौ एक नाड़ी है एक सौ एक एक शतम मैंने शत एक अधिकम शतम यदि एक शतम एक सौ ऐसा नहीं एक अधिक है जिस सौ में उसको कहते एक शतम अधिक शत लोप हो गया एकाधिकम शतम यदि एक शतम मैं एक सौ एक नाड़िया है और उन नाड़ियों का क्या हुआ आसाम शतम शतम एक ही कश्याम उनमें से जो सौ नाड़िया है ना वे सौ नाड़ियों में से प्रत्येक नाड़ी बहत्तर बहत्तर हजार हो गई द्वा सप्तति ही द्वा सप्तति ही प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी मैंने एक सौ को प्रत्येक बहत्तर हजार से मैंने विभाजन हो गया मैंने सौ इंटू बहत्तर हजार हो गए कितना हो गया वो बहत्तर करोड़ हो जाएगा बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख फिर वो एक सौ एक है ही है तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख और आगे के वो जो सौ की गिनती के हिसाब से दस हजार दो सौ एक माना गया बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ एक देखो आनंद गिरिटी का अगला प्रश्न सैंतीस में बीच बीच में है मिलित्वा मूल शाखा प्रतिशाखा नाढ़ मिलित्वा द्वा सप्त को कोट्या ट नहीं है ना लिखो उधर कोट्यो कोटयो द्वा सप्तति लक्षाणी दश सहस्रंच शतद्वयम एकाच अगे ना बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक हो गया एक गिनती और कुछ लोग कहते हैं आप उसको ना मुख्य का फिर विभाजन जो गुणा किया वो गुणा मत कीजिए सौ का प्रत्येक आपने कर दिया फिर मुख्य का भी आपने कर दिया ऐसा नहीं करना तब क्या होगा वो बहत्तर लाख नहीं मिलेगी बहत्तर करोड़ दस हजार एक सौ और दो सौ भी नहीं होएगा दस बहत्तर करोड़ दस हजार एक सौ एक हजार बस इतनी रह जाएगी मुख्य का भी पुनर्विभाग कर दे पुनः अभिनय कर दे गुणा वो नहीं करेगा दो पक्ष है पुनर्गुणा पक्ष में ये हुआ मूल शाखा मूल शाखा प्रतिशाखा तीनों में बहत्तर हजार से गुणा करोगे तो स्थिति बन जाएगी बहत्तर बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक और ऐसा नहीं करके जो प्रतिष्ठा का मातृ को बदरजार कर देंगे शाखा को नहीं गुना करेंगे मूल का भी गुना नहीं करेंगे तब क्या होगा बहत्तर करोड़ दस हजार एक सौ कितना ही रहेगा सारे में व्यान रूपेण वही प्राण भ्रमण करता है व्यान रूप तो प्राण अपान व्यान समान किससे ऊपर उठता है वो उसके लिए उदाहरण लाएंगे उत्क्रमण करेगा ना कुछ न केवल उत्क्रामती कभी उसके लिए उदाहरण की दूर उत्क्रमण करेगा तो उसने उदाहरण भाई बाद बताएंगे पूर्व मंत्र ने तीन बताया आज चौथा विभाग व्यान का यहाँ बता रहे हैं भाषा हृदय ही एश पुंडरीकाकार मांस मंड परिच्छिन्न हृदयाकाश है हृदय का मतलब क्या कुंडली का आकार वाला जो एक मांस पिंड विशेष है उससे परिचन्न जो आकाश हृदय आकाश उस हृदय आकाश में एस आत्मा आत्मा संयुक्त लिंगात्मा निशुद्ध आत्मा से संबद्ध जो लिंगात्मा सूक्ष्म शरीर अत्र अस्मिन हृदय एक शतम एकोत्तर शतम संज्ञया इस हृदय में वह कैसा है एक शतम एकोत्तर शतम संख्या प्रधान नारी नाम भवती मुख्य नारियां किसे कितनी है इसलिए एक सौ एक हो गए तासाम शतम शतम एक एक प्रधान नाढ़ प्रत्येक नारी का सौ सौ गुणा कर दो एक सौ एक का सौ सौ गुणा करें तो क्या हो जाएगा एक सौ इंटू सौ दस हजार हो गए ना तो इसलिए कह दिया सौ इंटू सौ दस हजार दस हजार एक सौ एक एक को अलग कर दो दस हजार एक सौ बन जाएगा तो एक अलग रहेगा सुषमना भी उसको भी कर दिया गुणा आपने पहले एक सौ एक ही गुणा करोगे तो दस हजार एक सौ हो जाएगा फिर वो एक सुषमना है ही अपना फिर भी तो दस हजार एक सौ एक रहेगा उसको पुनरअपि द्वा सप्तति द्वा सहस्र अधिके सप्ततिष्ठ सहस्रानी अर्थात दो हजार अधिक जिस सत्तर में अर्थात बहत्तर हजार से उसको गुणा कर दो जो दस हजार एक सौ एक थे उसको बहत्तर हजार से गुना कर तब बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख आदि आदि बन जाएगा प्रतिशा का नाड़ी सहस्राणी ये प्रतिशा का नाड़ी सहस्त्र इतने हो जाएंगे सहस्राराम द्वासती प्रतिशा नारी सहस्राणी प्रति प्रति नारी शतम संचय प्रधान नारी नाम सहस्राणी भवंती करता प्रति प्रति नारी शत जो थे वो संख्या से प्रधान नारियों का हजारों गुणा बन जाते हैं उन आसुनारीशु व्यानो वायु चलती व्यान रूप से वह महाप्राण क्या करता है वह इन सभी नारियों में विचरते रहता है व्यापरा व्यान नाम के व्यान बड़ा क्योंकि पूरे शरीर में व्याप्त इसे इसका नाम प्यान है आदित्यादि वरश्मय हृदय सर्वलोगामिनी भी नाड़ी भी सर्वदेहम संव्याप्य व्याल वर्तते आदित्यादि वरश्मियो जैसे आदित्य से रश्मिया निकलती हैं किरणें निकलते हैं सूर्य का ठीक उसी प्रकार से जो हृदय आकाश में विद्यमान जीवात्मा रूपी जो आत्मा है उसमें सारे किरण के समान सब निकल रहे आसनाडीशो आसुराडीशो व्यानो आदित्य रश्मयो हृदय सर्वतो गी भी नारी भी सर्वे संव्याप्त व्यान वर्तते तो सर्वत्र व्याप्त होकर के इन नारियों में व्यान व्याप्त होकर होता है संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो गया संधि स्कंद मर्मदेशेशु विशेषण प्राणपान वृत्तोश्च मध्य उद्भूत वृत्ति करता भवती विशेषण कहाँ का रहता है ये अरे संधि स्थलों में स्कंध स्थल में मर्म देशों में इन तीन स्थलों में विशेष जोड़ों में संधि मने जोड़ों में रहता है इसलिए ज्ञान बिगड़ जाते जोड़ बिगड़ जाते गठिया बोलते अनेक प्रकार गठिया हो जाते है दर्द होने लगते जोड़ों में स्कंध में बाहिया में और मर्मदेशी और मर्म स्थलों में विशेष प्राण अपान वृत्तियों मध्य और विशेष रूप और कहा है प्राण अपान वृत्तियों के बीच में उद्भूत वृत्ति वाला होकर रहता है अर्थात आप प्राण अपान को रोक दे कोई वचन और उठाने के लिए वीरवत कर्म करता है ना वीरवत कर्म को करने में ज्ञान की सहायता लेनी पड़ती अपान दोनों को रोकना पड़ता है और व्यायाम की सहायता से ही आप वीरवान कर्मों को करते हैं अर्थात वजन उठाना ऐसे बलवान कार्य जो होता है जोर कद्य की जो किया जाता है उन सकल कर्मों को आप इसी व्यायाम की कृपा से करते हैं अथ कयोर्ध उदान पुण्यन पुण्यम लोकम नयती आदि हम्म। आदित्यो वही नहीं पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम तथा उन एक नाड़ियों में से एक नाड़ी ऐसी है जिसका नाम सुषमना है जो ऊर्ध है गामिनी नाड़ी है उस नाड़ी के द्वारा उदान ऊपर की ओर जाने वाला उदान वायु है जीवात्मा को ऊपर की ओर ले जाने वाला उदान वायु है कैसे ले जाता है पुण्य न पुण्यम लोकम नीति शास्त्र कर्मों से देवादि जो आपने पुण्य शास्त्रोक्त कर्मों के जन्य जो पुण्य है उन पुण्य के कारण से ही आप लोगों को कहा ले जाएगा ये पुण्यम लोकम देव आदि जो पुण्य लोग है उनको प्राप्त कराता है और शास्त्र पाप कर्म आदियों को करने वाले को पाप है ना पापम लोकम त्रिवार योनियों में ले जाता है और पुण्य पाप जब बराबर सा हो जाए उपाभ्याम एव मनुष्य लोकम जब पुण्य पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्म रह जाते हैं उस स्थिति वह मनुष्य लोक में ले जाता है ये उदान वायु का काम किस से उत्क्रमण करता है तो उदान वायु से उत्क्रमण करता है भाषिका इसका अर्थ करते हैं अतः या तो त्रैदशदाना नारी नाम मध्य ऊर्जा सुषमनाख्या नारी तया एक या ऊर्धसन वायु हो आपातल मस्तक वृत्ति संचरण पुण्यन कर्मणा शास्त्र न पुण्यम लोकम देवाय स्थान लक्षण नहीं प्राप्यते अथ इस अनंतर या तो तत्र नारी नाम मध्य वह जो मुख्य एक सौ एक रानियां बताई गई थी उनमें से ऊर्धवा सुषमना क्या नाड़ी सुषम नाम की जो ऊपर की ओर जाती हुई नाड़ी है तो या ये कया उस एक नाड़ी के द्वारा ही ऊर्ध संदान हो वायु जो ऊर्ध होता हुआ वह उदान वायु आपातल मस्तक वृत्ति संचरण यद्यपि आपात मस्तक मस्तक में संचरण कर रहा हो भी लेकिन ऊर्ध की ओर चलता है पुण्य कर्मणा शास्त्र विहित पुण्य कर्म जो शास्त्र विहित है उनके वजह से ही पुण्यम लोकम देव आदि के स्थान होता जो लोक है उन लोगों को प्राप्त कराता है पापे न तो विपरीत और ठीक इसका विपरीत पाप जगह क्या हो रहा है पापम नरकम तिरयोग्योन्यादि लक्षणम तिरयोग्योन्यादि रूपा जो नरक हुआ है उसी को प्राप्त कराता है पदाभ्याम सम प्रधानाभ्याम और जब सम प्रधानाभ्याम पुण्य पुण्याभ्याम पुण्य भावाभ्याम सम प्रधानता है दोनों की किन दोनों की समान प्रधानता है पुण्य और भाव की दोनों बराबर सा हो गए तब मनुष्य लोकम नयुति अनुवर्त थे नैतिक यहाँ जोड़ लेंगे मनुष्य लोक की ओर ले जाता है आदित्यो वै बाह्य प्राण उदयत्येष हीनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृहान पृथिव्याम सैषा पुरुष से पानम अवष्टभ्यांतरा यदाकाश स समानो वायुर्यान आदित्य वही बाह्य पूछा है ना बाह्य क्या है अध्यात्म क्या है पूछा था वो भी बता रहे हाँ कदम बाया भी कहते हैं कि भाई निश्चय से आदित्य को ही यहाँ पर बाहर में विद्यमान अधिदैवत समझो लेकिन वहां अध्यात्म और बाह्य से दोनों लेना है अधिभूत और अधिदैव को जैसे पहले अधिदैव को लिया आदित्य रूप अधिदैवत बाह्य प्राणी और ये कहा रहता है ऐसा यह नेत्रस्थ चाक्षुष इस आध्यात्मिक प्राण पर ही अनुग्रह करता हुआ सूर्य हमेशा उगता है उदय थी ऐसे सूर्य ये जो सूर्य है उदय कर हो रहा है कैसे हो रहा है वो एरम चाक्षुषम प्राणम नेतृत्व चक्षु को संचरण करने वाला जो प्राण है उस प्राण को रहा उस प्राण पर एक ऐसे अनुग्रह करता हुआ यह सूर्य प्रकाशित होता है और पृथ्वी में यह देवता पृथ्वी में जो देवता है वह सायसा वह यह जो देवता है पुरुष से अपानम पुरुष के अपान वायु को अपने अधीन करके रहता है तभी पृथ्वी अम्ब को उड़ने नहीं दे रही है यदि वो अपान को खींचे नहीं पृथ्वी का अभिमानी देवता आज उड़ने नहीं जा रही